अपो नहीं करे अपो नहीं कभी करे गौ के हां गौ के गौ के लगे गौ के लगे कल आवे महीना में लगे उसको काम है वैसा लगे आपका चीज है गौ के लोग करे हम गिना करे गौ के लोग तीन दिन नहीं है तीन दिन नहीं को मतलब అన్ని ಇದು ರಾಜಜಿ ಬರ್ತಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ और यह मूल करे मूल के लोगों की बात नहीं है Thank you. પેલા જે ભગત હા ના હિરણાકોશ કા લડકા તેને બો ગયો બી मेरा मिन आ भगवान कृष्ण भगवान ले जाऊन आया हम्म। भी तू हाल देरी खाने तो के मेरी इति हम्म। दुनिया ही पा कई को नहीं गई कई को नहीं हगड़ी ने तारनी तो कन्ने ही बंद तार लिया बाकी ना थी बाकी बाने बसे कृष्ण भगवान आर तारिया हम्म। पर जन्म की कर कहीं भाई जन्म लियो जन्म वो जन्म लियो बिंगे पार के करे जिन्हें हाँ। जन्म लेने हो बस वो प्रचार प्रचार हाँ, पहली परचो कहीं दियो पहले परचो तो गूंगा रहा बार बस अच्छा वो भले वो बेरे माते दिनो परचो हाँ। दूधे दिने मेड़ती हो बिने परचो दिनो कहीं परचो परचो बिने दिनो दूधो जी वो आप गांव उतर गया उतर गया ना फिर के फलाने गूंज जो के परसो दे जो जो जो बिन कोई थन दे दे गांव वाल करा दे हम्म। गांव पाए फरूर रवाने योर का लार दिन घोड़ो जो मैं दी है नजदीक जो दे दिन वो बितो बित छेती भागे नहीं हम्म। दिन दू दे जी मन में बेचारे भी तो अवतारी है हम्म। घोड़े में कद पकड़ा कहा पाड़ो हो फरूर पगू सलाम कर बिन जाए उबरी गयो दौड़े पकड़ाओ कर नहीं senar kame hazır Pelan dudecin bolyo. કાંઈ પરચો દિયો મને કાંઈ દૂધેજી નથી દૂધેજી કે એક કેર ગોદીની લકડી જા કેર કી ખૂંટી ઠોર દે તેરો ગામ બાલ ઉજી અચ્છા બા કેર ખૂંટી ગામ બાલ ઉજી કયો ગામ દૂધોજી દૂધોજી મેળતી હો કટારા મેળતો દૂધોજી આ કટારા દૂધોજી મેળતે ગો जद पहले पर्चो दियो फिर हम्म। बाद में पर्चा उतारे बाद में जो पर्चा देंदा ये हर एक पर्चा लेखे पर्चा दे ये हैंक सब शब्द में है हाँ बाद में पहला पर्चो भी हूँ बोलियो भी हूँ भरम वालो वैसे हां और भरम को बाकी नारे नीरे बेक से सोया

सरित काज समझिस बटे तेरे पुण्य के लिए तेरो पैसो अटक सांझ बड़े जब सोय रयो पाड़ ना कयूर बाकलियो नर निरे बेके से सोयो रे ओडरे बारम को बाकलियो सतंग में कभी अन बैठो तर तर पाप गणी रोते तो मन में मूरख हो जो सेठो जेर हड़ाल ता कलियो नर निर बेके से सोयो रे ओडर बार में को बा कलियो दुर्गा देखिए मारा मे बन्ति सु

महाराज आप अर्ध ब्याह होया कि अर्ध क्या है कि ब्याह हो गया बस तो फिर वे ब्याह तो होना ही है अर्ध ब्याह तो ब्याह फिर मेरा हाथ पार से तो मैं भी ब्याह श्रेष्ठ मानू तो हाथ पर आपका पाल पर जब शंकर बोलिया गया आदि धर्म धरा कुटुम सुखदा मिष्ठा प्रिय भाषण क्रोध आलिक्ष नवान और सासुर मातुर पितुर मम भगनी ये ताते साथ में मार धोए अच्छा। है साथ बदमाइया है कन शंकर जब पार्वती देख ली विचार भी हाथ बदमाइया है आ हाथा में वजन मांगे मेरे हालत की रही कौन बात हम्म। जब हाथ पर मांगे पार्वती एक मुख्य द्वे उर्जे त्रणे राखे चतवारी मार होए पांच में पशु के खट रतु भी सतवाते एताते सात में मार धोए अच्छा। ए हाथ पर पार्वती मांगे हम्म। जब शंकर देव के विचार भी हाथ ही नहीं मांगे और हाथ नहीं पुटा मांग ले तो अब तुम्हें बराबर हाँ तो भी ब्याह हो गया कि नहीं साहब आप हाथ फेर दे सको अपन ब्याह था बैठ मत पड़े जब हाथ फेर बोला शिवजी जी कह मम चित्यंग मम बित्यंग मम बाता मम रेवचे ममा मद पान पीवनते पिता घर गमने बेचू घसते एटा थे साथ में डावे अंग मार धोए अर्थ अर्थ होना हुआ हाँ। जब ए हाथ बचन मांगा है कहा शंकर बैठ गया तो भाई होने दो और क्या जब वो कथा करने वालों गण ब्याह रचाया है डावैंग बनाए ब्याह सपूर्ण किया वंशी के जय जवाई ओम ये दो चलू है हम्म। जापो है हम्म। नहीं वो चलू है और किसी के हाथ लाग जाए जो तो शरीर और मेरे भिंडी जन ले तो वो भी संस्कार है तो संस्कार तो वो तो होम बोली जाए हम्म। और विवाह पदी में है विवाह तो सब पाटिया बने हैं रामचंद्र जी को विवाह बने हैं जी तरीके हूँ व्याह होगी पाटिया पड़ी जो होम गोविंद माए एक गायत्री मंत्रावय भविर भवय स्वय तथा वर्ण स्वर्ण भृगो देव जो धीमे पर वो एक और जावर माँ वो भी होमायती में आ सके वो भी व्याह में आ सके दूसरों को ये होमायती वालों काम दूसरों है व्याह और दूसरा अच्छा, जो भी मतलब दूसरा टाइम तो गए बिन टाइम मतलब सावा जी है जी वो भी नहीं चावरी किन टाइम मन निकलने का चावरी वो मारा कहीं को नहीं शाम री टाइम शाम दिन बजे लगा सुबह सूरज किरण काटा जो बीच में बनाए कोई टाइम मारा कोई आ नहीं अभी फलानी टाइम और फलाना मुहूर्त मारा मुहूर्त फुहूर्त कुछ मास्टर जी जाते रहने <laughs> दे नहीं भाई <laughs> हाँ। or mortareegi ke haradanga maavega hole harad veya mako vanega navota manega falan kon mare aaj raj se aaj bhi koi sari hai boodo pukto aadmi sari chhod dat bhi te jao kar हियाल नहीं जो काम तौर पे आप लोग घूम गए हो मार गए जोध जोध कौन जा रहे क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं